फिर हमने उन पर दोबारा तुम्हें गलबा दे दिया और हमने मालों और बेटों से तुम्हें मदद दी और हमने तुम्हें तादाद में ज़्यादा कर दिया